परम पिता परमात्मा का स्मरण सर्वदा पुष्टि देने वाले परमात्मा धारण करने वाले प्रणव ध्वनि ओ Oh. प्रेमी सज्जनों आज विचार के लिए जो वेद मंत्र हमारे सामने है वो यजुर्वेद के 38वें अध्याय का चौदहवा मंत्र है और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसे आर्यों के लिए आर्याभिविनय में द्वितीय प्रकाश में इकतीसवीं संख्या पर दिया है जीवन में उन्नति करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कैसी कैसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए किन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है अनिवार्यता है उस ओर संकेत इस मंत्र में किया गया है परमात्मा से प्रार्थना है इशे पिनवस्व इश अन्न नाम में पढ़ा गया है अन्न जिसे हम खाते हैं अन्न जो हमें प्राण प्रदान करता है बल प्रदान करता है तो जो हम ग्रहण करते हैं जीवन चलाने के लिए जो हमें प्राण प्रदान करता है उसके लिए पिंडवस्व हमें पुष्ट कर अन्न हमें अपेक्षित है अच्छा अन्न हो ये एक अलग प्रार्थना है लेकिन यहां प्रार्थना है अन्न के लिए पिनवस्व हमें पुष्ट कर पिन्व धातु सेवने सेचने च सेवन में और सेचन में दोनों में आती है हमें ऐसा बना कि हम इनका ठीक प्रकार से सेवन कर सके महर्षि ने अर्थ करते हुए लिखा उत्तम अन्न के लिए पुष्ट कर हमें पुष्ट कर जिससे अन्न के अपचन व कुपचन के रोगों से हम बचें हमारी सामर्थ्य ऐसी हो कि अन्न हम ठीक पचा सके हम अन्न को ठीक उत्पन्न कर सके ऐसा हमें बना दे दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अन्न आदि की श्रेष्ठता का तो प्रयास करना ही चाहिए अन्न उत्तम हो शुभ गुणयुक्त हो लाभकारी हो पर्याप्त मात्रा में हो ये भी करना चाहिए इसकी भी प्रार्थनाएं और निर्देश वेद में मिलते हैं लेकिन ये प्राप्त तो हो गए और इनका उपयोग हम ठीक तरह कर सकें इसके लिए हमें पुष्ट कर हमें ऐसा बना कि हम इनका ठीक प्रयोग कर सकें इनको ठीक बचा सकें इनका अधिकतम लाभ ले सकें तो ये वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक हैं और हमारी भी योग्यता ऐसी होनी चाहिए हमें अपनी योग्यता ऐसी बनानी चाहिए उसके लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए कि इनका ठीक लाभ उठा सके आगे कहा ऊर्जे पिनवस्व बल के लिए पराक्रम के लिए हमें पुष्ट कर हमें ऐसा पुष्ट बना जिससे कि हम बल पराक्रम से युक्त हो जाए ये बातें जो अन्न के ईश के संबंध में कही वो सब जगह घटेंगी कि हमें ऊर्जा चाहिए बल चाहिए किंतु उस ऊर्जा बल का उपयोग हम ठीक कर सकें ये भी होना चाहिए हमारे वाला पक्ष भी मजबूत होना चाहिए उसके लिए सब जगह है ऊर्जे पिन वस्व ऊर्जा के लिए हमें योग्य बना पुष्ट कर जब सेचन किया जाता है जैसे कि वृक्ष को जल का सेचन किया जाए तो पुष्ट होता है ये उसको पोषण होता है खाद दी जाती है वो भी एक तरह का सेचन है उससे वो पुष्ट होता है पौधा पुष्ट होता है तो परमात्मा हमारे लिए सेचन करे परमात्मा हमारे लिए सेचन करता है जिससे कि हम पुष्ट होते हैं हम जैसे हैं उसमें हमारी सामर्थ्य और बढ़ती है कहा ब्रह्मणे पिनवस्व ब्रह्म के लिए विद्या के लिए हमें पुष्ट कर वेद के लिए हमें पुष्ट कर हमें ऐसा बना दे कि हम वेद को ज्ञान को अधिकाधिक प्राप्त करें अच्छी तरह प्राप्त कर सकें क्षत्राय पिनवस्व रक्षा के लिए हमें पुष्ट कर हम अपनी रक्षा कर सकें और समाज राष्ट्र की भी रक्षा कर सकें अधर्म से रक्षा कर सकें आगे कहा द्यावा पृथ्वी भ्याम पिंडवस्व दीवलोक को महर्षि ने खोला स्वर्ग के लिए मुक्ति के लिए और पृथ्वी ये भूमि यानी इस लौकिक सुख के लिए संसार सुख के लिए तो द्यावा और पृथ्वी के लिए भी हमें पुष्ट कर मुक्ति का सुख भी हमें मिल सके और संसार का सुख भी मिल सके स्वस्थ रहते हुए इस तरह से हमें पुष्ट कर इसमें इसका हमारा लक्ष्य बताया गया और भी जो चीजें पहले बताई गई इनके लिए हमें पुष्ट कर क्यों क्योंकि लक्ष्य हमारा है इस संसार में सुख प्राप्त करना और मुक्ति का सुख भी प्राप्त करना दोनों जगह हमें सुख मिले संसार में दुख ना हो निर्बाधता हो ये हमारे लक्ष्य हैं और इसलिए इस मंत्र का देवता द्यावा पृथ्वी को कहा गया है इस मंत्र का मुख्य विषय द्यावा और पृथ्वी है द्यावा पृथ्वी देवते ये दो देवता हैं इसके विषय हैं मंत्र में अन्य जो भी प्रार्थना की गई है वो मुक्ति के लिए और संसार सुख के लिए दोनों के लिए की गई है तो ये देवता है इस मंत्र का द्यावा पृथ्वी भ्याम पिन वस्व तो अपने सामर्थ्य बढ़ाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई और फिर परमात्मा की स्तुति की गई क्यों हम परमात्मा से इस सब की प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा धर्मासी सुधर्म हे परमात्मा आप धर्म हो आप श्रेष्ठ धर्म हो आप धारण करने वाले हो हम अपने को सेचन के लिए पुष्टि के लिए उसी से प्रार्थना करेंगे हमें उसी से प्रार्थना करनी चाहिए जो धर्म में स्थित हो जो अधर्म में स्थित होगा उससे यदि हम इसकी प्रार्थना करेंगे तो मुक्ति सुख और सांसारिक सुख नहीं मिल पाएगा जैसे परमात्मा से हम इसकी प्रार्थना करते हैं ऐसे संसार में श्रेष्ठ पुरुषों से भी हम ये प्रार्थना कर सकते हैं यदि अधार्मिक व्यक्ति से हम ये प्रार्थना करेंगे कि अन्न के लिए हमें पुष्ट कर तो ऐसी औषधियां या ऐसे रसायन दे सकता है हमें जिससे हमारी भूख बहुत बढ़ जाए पाचन बहुत शीघ्र हो जाए लेकिन वो चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो अंततः हमारे लिए हानिकारक हो जाए वो थोड़ी देर के लिए भूख बढ़ा देंगे उचित मात्रा में भूख बढ़ाने के लिए जो औषधियां हैं वो ठीक है लेकिन उसमें जब अति होती है तो वो हानिकारक हो जाती है यही ऊर्जे पिन वस्वा हम उस धर्म और सुधर्म परमात्मा को ये कह रहे हैं आज शक्तिवर्धक बहुत सी औषधियां समाज में उपलब्ध है प्रयोग की जाती हैं खिलाड़ी भी करते हैं और वैज्ञानिकों ने और जो स्वास्थ्य को जानने वाले हैं चिकित्सक हैं शरीर शास्त्री हैं उन्होंने उनका प्रतिबंध भी लगा किया हुआ है उनको प्रतिबंधित कर रखा है वैसे तो बल बढ़ाने वाली है वो उनसे सामर्थ्य बढ़ जाती है बहुत अच्छा प्रदर्शन हो जाता है अधिक भार उठा लेता है अधिक तेज दौड़ लेता है शीघ्रता से तैर लेता है अधिक भार गोला आदि फेंक देता है इत्यादि ये सब बल को बढ़ाने वाली है बल बढ़ता है ये प्रत्यक्ष है लेकिन फिर भी वो प्रतिबंधित है प्रतिबंधित की जाती है क्यों क्योंकि वो धर्म युक्त नहीं है वो आगे चल करके व्यक्ति को हानि पहुंचाती है तो जिस परमात्मा से हम ये पिनवस्व पिनवस्व की प्रार्थना कर रहे हैं वो कैसा हो और कैसा है धर्म असी सुधर्म स्वास्थ्य के लिए आज बहुत सी औषधियां ऐसी दी जाती हैं जो आगे चल करके बहुत हानिकारक हो जाती हैं ऐसी हमें नहीं चाहिए ऐसी औषधियां बल ऊर्जा के लिए दी जाती हैं ऐसे भोजन दिए जाते हैं जिससे शरीर बहुत बढ़ जाता है बहुत पुष्ट लगता है भरा भरा लगता है मांसपेशियां उभर आती हैं लेकिन वो त्यावा और पृथ्वी के लिए मुक्ति और संसार सुख के लिए नहीं है जैसा कि भारतीय दर्शनों में इसी सूत्र को लेकर के वेद के अभिप्राय को लेकर के कहा गया ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म अभ्युदय भी होना चाहिए संसार सुख भी होना चाहिए और निश्रेयस मुक्ति की प्राप्ति भी होनी चाहिए ऐसी चीजें हमें सेवन करनी है ऐसी चीजों से हमें पुष्ट होना है ऐसी चीजों का प्रयोग करना है इसलिए यहां द्यावा पृथ्वी भ्याम वस्व ये कथन किया गया और ये वही कर सकता है जो धर्म से युक्त हो धारण करने वाला हो सुधर्म हो जिसको ये विवेक नहीं है वो ऐसी चीजों का प्रयोग बताएगा जिससे संसार में तो सुख बढ़ जाएगा लेकिन वो मुक्ति के लिए बाधक बन जाएंगे ऋषियों की दृष्टि वेद की दृष्टि यही है भिन्न है जो आज का भौतिकवाद है वो भी अच्छे के लिए काम करता है दृष्टि तो उसकी भी यही है अनुसंधान करता भी ये सोच करके करते हैं लेकिन वो केवल सांसारिक सुख तक के लिए हमें बढ़ाते हैं उनका लक्ष्य केवल सांसारिक सुख है और ऐसे में सांसारिक सुख में भी बाधा होती है केवल एक पक्ष को लेकर के जब चलते हैं तो धर्म भी साथ में रहना चाहिए हम ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें कि ये हमारे लिए हानिकारक हो जाए इसी तरह ब्रह्मणे पिन्वस्व में ब्रह्म के लिए ज्ञान के लिए हमें पुष्ट कर सिंचित कर तो ऐसी बहुत सी औषधियां आती हैं जिससे बुद्धि अधिक काम करने लग जाती है नींद नहीं आएगी आलस्य नहीं आएगा जागरूकता अधिक प्रतीत होगी सक्रिय लगेगा व्यक्ति किंतु उनसे यदि अधर्म हो रहा है हानि हो रही है तो ऐसी पोषण करने वाली सिंचन करने वाली औषधियां हमें नहीं लेनी है हमें वो चीज लेनी है जो मुक्ति के लिए भी लाभदायक हो और इस संसार के लिए भी लाभदायक हो तो बहुत बड़ा सूत्र यहां पर दिया है द्यावा पृथ्वी भ्याम पिनवस्व और महर्षि ने जो इसका अर्थ किया है वो अपने आप में बहुत अच्छा है और धर्मासी सुधर्मा परमात्मा आप धर्म हो सुधर्म हो इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं और मनुष्यों से भी जो हमें मिले वो इसी प्रकार का मिल पाए और आगे कहा अमेनी अस्मे हमारे लिए निर्वैर हो हिंसा रहित हो जो पीछे धर्म और सुधर्म से युक्त बात की गई उसी को एक तरह से दूसरे ढंग से खोला गया है अमेनी में यहां पर मी हिंसायाम मी हिंसायाम धातु है अमेनी का मतलब है हिंसा रहित वैर रहित हानि रहित हमारे लिए हो ये विशेषण देने से पता लगता है कि ये सब चीजें जो हमें पोषण देती हैं हमारा सिंचन करती हैं बढ़ाती हैं वो हानिकारक भी हो सकती हैं दिखने में बढ़ाती भी लगेंगी लेकिन वो हानिकारक भी हो सकती हैं वो औषधियां हमें एकाग्रता लाती हुई प्रतीत होंगी लेकिन वो हानिकारक भी हो सकती है हानिकारक होंगी हमें ऐसी चीजों का सेवन करना है जिससे एकाग्रता बढ़े बुद्धि बढ़े लेकिन हानि नहीं हो तो कहा अमेनी अस्मे हमारे लिए अमेनी हो हिंसा रहित हो हानि रहित लाभ मिले ऐसी ही चीजें हमें चाहिए परमात्मा से प्रार्थना की निम्नानी धारय निम्न शब्द निरुक्त में धन और बल के नामों में पढ़ा गया है तो विविध धन ऐश्वर्य विविध बल हमारे लिए धारय धारण करो हमें प्राप्त हो और प्राप्त होने के बाद में वो हमारे पास स्थिर रहें बने रहें उपलब्ध रहें उनका धारण भी करो निम्न का एक और अर्थ किया जाता है धन और बल अर्थ क्यों किया जाता है तो नरई ही रमणीयानी धनानी निम्न मनुष्यों के द्वारा जो रमणीय होते हैं प्रिय होते हैं ऐसी चीजें हमें दो जब किसी मनुष्य को पता लगे कि ये वस्तु अभी तो लाभ कर रही है लेकिन आगे चल करके हानि करेगी तो व्यक्ति के लिए वो रमणीय नहीं रह जाता उसे छोड़ने का प्रयास करेगा तो हमें ऐसे चीजें प्राप्त कराओ जिनमें हम रमण कर सकें जो हमारे को सदा प्रिय लगे सदा प्रिय बनी रहे जो हमारे लिए सदा हितकारी हो हिंसा करने वाली ना हो तो कन्म नृम ना नहीं धारया ब्रह्म धारया और ब्रह्म की भी का भी धारण करो ज्ञान आदि हमें हमारे लिए धारण करो जब हमें इनका पोषण प्रदान किया है आपने तो हम इनका सेवन भी कर सकें ये भी तो होने चाहिए जिस समय ज्ञान प्राप्ति का अवसर था उस समय बल नहीं था सामर्थ्य नहीं था आलस्य प्रमाद था और जब प्रयास करके आलस्य प्रमाद हटाया बल प्राप्त किया स्वास्थ्य प्राप्त किया तो विद्या प्राप्ति का अवसर ही ना हो तो उस बल प्राप्ति का क्या लाभ तो प्रारंभ में अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए भी प्रार्थना की गई और फिर साथ में कहा ब्रह्म धारय इस ब्रह्म को ज्ञान को भी धारण करो हमारे लिए ये उपलब्ध रहे और हमने जो प्राप्त किया है हमारे अंदर भी ये उपलब्ध रहे छत्र धारय इस रक्षा को चक्रवर्ती राज्य को धारण करो इस सामर्थ्य से हमने इसे प्राप्त किया है वो बना रहे विषम धारय और अन्य भी जो मनुष्य हैं उनको भी हमारे लिए धारण करो वो हमारे लिए उपलब्ध रहे बने रहे विश्व शब्द मनुष्यों के नाम में निरुक्त में पढ़ा गया है निघंटू में पढ़ा गया है वैश्य के लिए भी ये आता है जैसे यहां पर ब्रह्म क्षत्र और विश्व ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीन की बात कही गई इन तीनों को धारण करो क्योंकि ये अधिक योग्य होते हैं और महर्षि ने अर्थ में लिखा व्याख्या में लिखा शूद्रादि को भी अन्य भी जो मनुष्य हैं वो भी उनको भी धारण करो वो भी हमारे लिए श्रेष्ठ ही उपलब्ध हो तो मुक्ति को यदि पाना है और संसार सुख को पाना है तो इन सब वस्तुओं की हमें आवश्यकता है ये हमारे लिए अनिवार्य है इनका हम ठीक उपयोग कर सकें ये भी बहुत अनिवार्य है हमारी सामर्थ्य बढ़े प्राय सांसारिक सुख लेने वालों का और आध्यात्मिक लोगों का भी ये रुख बन जाता है कि हमें अच्छी वस्तुओं का सेवन करना है अच्छे से अच्छे वस्त्र अच्छे से अच्छा अन्न अच्छे से अच्छा मकान इस ओर हम अधिक केंद्रित हो जाते हैं और उसी के लिए बहुत धन खर्च करते हैं बहुत समय लगाते हैं बहुत श्रम करते हैं लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है कि हम उनका अच्छा उपयोग कर सकें उस ओर से उदासीन हो जाते हैं भोजन बहुत अच्छा बना लिया लेकिन भूख नहीं है पच नहीं रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं व्यायाम आदि उदर शुद्धि आसन प्राणायाम ये विभिन्न चीजें हैं जिनसे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं भूख को अच्छा रखते हैं परमात्मा ने वस्तुएं ऐसी बना के रखी हैं कि साधारण से साधारण वस्तुओं से भी हम अपना बहुत अच्छी तरह पोषण कर सकते हैं ये जो मानसिकता बन गई है प्राय कि बहुत महंगी महंगी चीजें लेने पर हमारा पोषण होगा क्योंकि धन संपन्न लोग राजा लोग उन्हीं चीजों का प्रयोग करते हैं उनके पास धन है तो जिसके पास कम धन है वो भी सोचता है कैसे मैं ये अधिक से अधिक ऊंची चीजें प्राप्त करूं पोषण हम उन वस्तुओं पर केंद्रित कर लेते हैं वस्तुओं का अपना महत्व है लेकिन यदि हमारी पाचन शक्ति अच्छी है हमने अपने को अच्छा बना लिया है हमारा सिंचन ठीक तरह से हुआ है पोषण ठीक तरह से हुआ है तो हम साधारण चीजों से भी वही सब पोषण प्राप्त कर सकते हैं करते हैं हमें घी ना भी मिले लेकिन हमारा पाचन अच्छा है तो हम सामान्य भोजन से भी स्निग्धता और घी आदि प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल साधारण भोजन से भी बहुत सस्ते भोजन से भी पर्याप्त मात्रा में जो उपलब्ध है उससे भी जो मूल्यवान भोजन आहार आदि हैं वो कम मात्रा में होते हैं इसलिए वो महंगे बहुत होते हैं लेकिन उनमें उतनी ही गुणवत्ता हो जितना उनका मूल्य अधिक है उतने उनमें गुण अधिक हो ऐसा नहीं है उनके मूल्य के आधार पर हम उनकी गुणवत्ता को निर्धारित करने लग जाते हैं ये वस्तु दस गुना महंगी है तो दस गुना लाभदायक होगी ऐसा नहीं है उनके मूल्य बढ़ने का कारण उनकी अल्प उपलब्धता कम उत्पादन है परमात्मा ने जो चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई हैं जो पर्याप्त मात्रा में हो जाती हैं उनमें भी वो सब सामर्थ्य दे रखी है कि एक मनुष्य अपने इस संसार के सुख को भी प्राप्त कर सकता है और मुक्ति सुख को भी प्राप्त कर सकता है लेकिन अपने पोषण की अपने सिंचन की भी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए मुझे पच रहा है या नहीं मुझे लग रहा है या नहीं ज्ञान के संदर्भ में भी हमारी बड़ी आकांक्षा होती है कि मैं अच्छी से अच्छी पुस्तक पढ़ू अच्छे से अच्छे गुरु से पढ़ू अच्छे से अच्छे साधु संत से उपदेश को ग्रहण करूं सबसे अच्छे वेद हैं वेद से मैं ज्ञान प्राप्त करूं इसके लिए बहुत प्रयत्न करता है व्यक्ति पत्नी इन सब के लिए मनुष्य बहुत प्रयत्न करता है उसी पर अधिक केंद्रित हो जाते हैं ये अच्छे हों कोई दो राय नहीं होने चाहिए लेकिन हमारा बल इन्हीं के अच्छे होने में लग जाता है अच्छे से अच्छे को मैं प्राप्त कर सकूं अच्छे से अच्छा चिकित्सक मुझे मिल सके और इस भावना से छोटा सा रोग होगा तो भी बहुत बड़े विशेषज्ञ के पास जाएंगे पंक्ति में खड़े रहेंगे धन भी अधिक खर्च करेंगे समय भी अधिक खर्च करेंगे वो काम छोटे से भी हो सकता है यही बात ज्ञान प्राप्ति के लिए है हम यदि अपनी सामर्थ्य को बढ़ा लें तो उपलब्ध ग्रंथों से उपलब्ध गुरुओं से भी बहुत प्राप्त कर सकते हैं बहुत अधिक उपयोगी हो सकते हैं ये उस तरह से है जैसे कि किसी बहुत बड़े अच्छे विद्यालय में जिसमें लाखों रुपए साल के खर्च होते हैं कोई जाए और वहां आलस से प्रमाद से युक्त रहे प्रयत्न ना करे कम करे तो थोड़ा सा प्राप्त करेगा और एक दूसरा व्यक्ति बहुत प्रयत्नशील है जागरूक है और एक सामान्य से विद्यालय में वो पढ़ रहा है वो उन्हीं सामान्य पुस्तकों से सामान्य अध्यापकों से वो प्राप्त कर लेता है जो उच्च विद्यालय से भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता इतना तो सामान्य विद्यालय में भी है कि हम बहुत ऊंचे जा सकते हैं वेद बहुत अच्छे हैं लेकिन वेद का ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य हम पैदा नहीं कर रहे हैं तो वेद से क्या लाभ मिलेगा अपनी सामर्थ्य भी हमें बढ़ानी होती है इसलिए बहुत बड़ा वैदिक वांग्मय है वेद तक पहुंचने के लिए सामर्थ्य बढ़ानी होती है सामर्थ्य बढ़ा ली तो उससे बहुत लाभ उठा सकते हैं नहीं तो लाभ नहीं उठा सकते तो इस मंत्र में अपने पिनवस्व के लिए परमात्मा से प्रार्थना की पिनवस्व हमें सेचित करो बढ़ाओ पुष्ट करो और इसका परोक्ष अर्थ ये भी है इससे जुड़ा हुआ अर्थ है कि हमें अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए न कि केवल साधनों को बढ़ाने के लिए सांसारिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति दोनों में एक बड़ा दोष रहता है प्रारंभ में वो अपनी कुछ सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास करते हैं लेकिन एक सीमा पर जाने के बाद में सामर्थ्य बढ़ाने के प्रयत्नों को छोड़ देते सामर्थ्य बढ़ाई कुछ प्राप्तियां हुई और बस उसको भोगने और उसी के अंतर्गत अपना जीवन चलाने लगते उतना ही धन आदि उसका उतना उपयोग अपनी शरीर की सामर्थ्य बढ़ाते ही रहना बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ाते ही रहना ज्ञान को बढ़ाते ही रहना ये सब में नहीं देखा जाता है वो स्थिर हो जाते हैं उतने से उनका सामान्य जीवन चल जाता है और वो चलाते रहते अध्यात्म के क्षेत्र में भी यही होता है थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया कुछ उपदेश सुन लिए पता लग गया भी ऐसे ऐसे करना है और बस वहीं संतुष्ट होकर के बैठ गए और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की और अधिक चिंतन मनन की उनको आवश्यकता ही नहीं लगती शरीर सामान्य रूप से स्वस्थ है उतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं साधन सामान्य रूप से हैं उतने से ही संतुष्ट होकर के अपना बस काम जैसे तैसे निकालते रहते हैं जो मिल गया उसी में ही बस संतुष्ट रहते हैं उनको और अच्छा बनाने का प्रयास और अच्छा उपयोग हम कर सकें इसका प्रयास शिथिल हो जाता है लेकिन जिसे संसार का सुख अच्छा लेना है और उस संसार के सुख को मुक्ति सुख प्राप्त करने में सहयोगी बनाना है उसके लिए ये सब करना होगा ये वेद का आदेश है और इसलिए इस मंत्र का ऋषि रखा है दीर्घतमा ऋषि दीर्घ यानी बड़ा बृहत दीर्घतम सबसे बड़ा कौन बनेगा सबसे ऊंचा कौन जाएगा जो इस पिनवस्व की भी कामना करे और प्रयत्न करे और धारय की भी कामना करे और धर्मयुक्त परमात्मा से इसकी प्रार्थना करे धर्मयुक्त लोगों से इसको चाहे धार्मिक तरीकों से चाहे और इनका ऐसा उपयोग करे कि जो हानिकारक ना हो अहिंसक हो अपने लिए भी हानिकारक ना हो ऐसा प्रयोग करेगा और मुक्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखे और संसार के सुख को भी ध्यान में रखे दोनों को ध्यान में रखे वो मनुष्यों में दीर्घतम हो सकता है दीर्घ बहुत सारे मिल जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में कुछ कुछ प्रयास जो जितना करेगा वो उतना दीर्घ बड़ा बनेगा लेकिन यदि दीर्घतम बनना है तो ये सूत्र अपनाना होगा तो जिन ऋषि ने इसका प्रथम दर्शन किया था इसका प्रचार किया था उनका नाम ही दीर्घतमा पड़ गया और आगे भी जो भी इस मंत्र को जानेगा समझेगा व्यवहार में लाएगा वो दीर्घतम की यात्रा पर निकल पड़ेगा अपने को बड़ा बनाने के लिए निकल पड़ेगा और इसको उल्टा भी कर लें जो इस सूत्र इस मंत्र में दिए भाव को नहीं पकड़ पाता या नहीं जानता है वो चाहता हुआ भी दीर्घतम नहीं बन पाएगा बड़ा नहीं बन पाएगा कम ही रह जाएगा छोटा रह जाएगा बौना रह जाएगा कम प्रगति कर पाएगा तो परमात्मा ने हमें इसमें उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए एक सूत्र दिया है हम आर्य हैं हमें दीर्घतम भी बनना है श्रेष्ठ है हमें श्रेष्ठतम बनना है उसके लिए इन बिंदुओं पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए जैसे आज के भौतिक विज्ञानी अपने किसी भी यंत्र में जितना दोष है उसको और ठीक ठीक करना चाहते हैं और सुधार और सुधार और अधिक योग्य और अधिक अच्छा काम करने वाला कम ऊर्जा खर्च करने वाला कम पैसे वाला बनाते जाते बनाते जाते हैं और जो भी यंत्र बना है उसका हम अधिक से अधिक उपयोग ले सकें उपयोग अधिक ले सकें उसकी पूरी सामर्थ्य को ले सकें ये भी ध्यान रखा जाता है और ये उचित है ये वेदोक्त है लेकिन उसमें ध्यान रखना है ये धर्म युक्त हो सुधर्म हो वो हानिकारक न हो और वो मुक्ति के लक्ष्य को भी ध्यान में रख करके किया जा रहा हो मात्र संसार के सुख के लिए नहीं ये वेद मंत्र में हमारे लिए उपदेश है मन में भावना रखते हुए ओम का उच्चारण ओ